ने आपको पकड़ा था कि मेरा पैसा उन्होंने दे दिया था फिर हमें नहीं दिया कौन गवाह है एक साहबी पीछे पीछे जा रहे थे क्या अल्लाह के रसूल मैं गवाह हूं आपने दे दिया था मर गया किसका होते था खुद चला गया रसूल ने उससे पूछा कि तूने तूने कैसे गवाही दी जब मैंने उसको दिया था वो तो फालतू तुमको दे दी कि अल्लाह के रसूल मैंने तो कलमा पढ़ा है अल्लाह सच्ची अल्लाह की हर बात सच्ची अल्लाह के नबी आप सच्ची और आपकी हर बात सच्ची आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते इसलिए मैंने तो बगैर लेके आपकी गवाही दे दी थी हाँ आपने दे दिया उस तो दिन से उनकी गवाही में आदमियों के बराबर खराब दी गई किताबों में लिखा हुआ है तो तो फरिश्ते देखते हैं हर वक्त उनकी गवाही उतनी ऊंची नहीं है जितनी तोहीद पर इनकी गवाही माजबर मामूली रिश्वत नहीं है मामूली बिक्री ऊंची है फिर आपको याद होगा आपने इस बात में पढ़ा होगा पढ़ रहे होंगे जलाजन वगैरह पढ़ते हैं तस्वीर पढ़ते हैं सबक होता है हफ्तारा साधु ने हजरत मुसाल सराज तकलीफ से फरमाया वह अनख तर टूटा वह अनख तर टूटा भस्तम अलीमा यूहा इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना मूसा तुम तो फिरौन के माहौल में थे कहा थे हजरत मूसा इस्लाम फिरौन के माहौल में थे और फिरौन का माहौल क्या था खादिशीर था कुफर था और इंतहाई जुल्म तादनी का माहौल था उस माहौल से तुमको हमने पसंद किया अल्लाह करें तो सिर्फ हजरत मूसा इस्लाम को ही पसंद किया और यहाँ कर क्यामत तक ये बस खत्म हो गई नहीं जिसको भी नमूवत वाले हिंद को जिसकी नस्बत नमूवत वाले हिंद के साथ है वो बराहराज अल्लाह का पसंद किया हुआ है ये सारा मजमा जितने पैदा जितने नहीं पूरी दुनिया में जितने मदारी जितने मकाती और जहां जहां कुरान हदीस का इल्म हो रहा है यहां तक के नादने से लेकर अखीर तक जो भी जिसकी निस्बत लेने के साथ है वो अल्लाह के पसंद किए हुए हैं अल्लाह ने तो पसंद कर लिया फिर काहे के लिए पसंद किया वही बताया अच्छे कपड़े पहनने के लिए बहुत सारी दौलत इकट्ठा करने के लिए हमने आपको इस माहौल से निकालकर हमने आपको छाटा है हमने आपको पसंद किया है क्यों जो वही आपकी तरफ की जाए उसको पूरे ध्यान से सुनने के हम जो कुरान हदीस पढ़ते हैं वो क्या है वही इलाही है और यहमा किराम बयान करते हैं कि वही की दो किस्में हैं एक वही मतलू है और एक वही गैर मतलू हमारा Ricky ईमानदारी का रास्ता ये है कि हमें अल्लाह ने पहले दिन से वो रास्ता दे दिया जब हमने अलिब्बा में दाखिला लिया जब हमने अलिब्बा की तख्ती पढ़नी शुरू की और हमारी नीयत ये कि हमें कुरान पढ़ना है हदीस पढ़नी है नबी वाला इल्म लेना है उस दिन से अल्लाह ने हमें उस जगह में दाखिल कर दिया कि हमारे को यही दिन से वो हमारी बुनियादें हैं अब दुनिया ठोकरें खा रही है और दुनिया बहुत परेशान है अल्लाह ने उन सारी परेशानियों से निकलना का इलाज आपको पहले ही दिन दे दिया मामूली बात नहीं है लेकिन अब आप यू बताओ एक आदमी को चार किस्म के खाने खाता है और भूख ठाक से सोता है और उसके पड़ोस में उसका मेहमान भूखा सोता है तो इस आदमी का चार चलता खाना खाना करामत में उसकी पकड़ का जरिया बनेगा कि बनेगा जरिया बनेगा कि तुमने कैसे सीखा मेरे बंदे भूखे रहे आपको तो अल्लाह ने पहले दिन से ये दौलतें दी और आप इस रंग में अपने आप को रंग रहे हैं आपका ईमान बन रहा है आपका तकवा बन रहा है में तवक्ल बन रहा है आपके साथ अल्लाह के वादे पूरे हो रहे हैं आप में सब्र आ रहा है आप में शुक्र आ रहा है आप में दुनिया से बेरकबती आ रही है ये सारी रौलन आपके पास रही है और आप उसको समेट के हजम कर जाओ तो हमारा ये इल्म हमें क्यामत में पकड़वा देगा कि हमारे बंदे तो हमको पहचानते ही नहीं थे ना हमारे नबी को जानते ना वो नमाज डालते थे न उनके इलाकों में अजाने होती थी न उन्होंने तुम तो बहुत शानदार रहते रहे इसीलिए बहुत हमारी जिम्मेदारी है जैसे सारी उम्मतों की एक जिम्मेदारी थी जो उनको रवि ला कर दे उसको अपनाना और जिंदगी में जगह लेना ये पहली उम्मतों की जिम्मेदारी इस उम्मत के हर फर्ज की जिम्मेदारी है नबी वाले इल्म पर अमल करना और फिर उसको नबी वाले गम के साथ नबी वाले फिक्र साथ रंगने के साथ उसको गुटकिया देते बार बार बार बार और फिर वो ऐसा रंगता है ऐसा रंगता है कि देखने वाला पहचान नहीं सकता कि ये कपड़ा पहले ही ऐसा था या सफेद का और अब रंगा गया है मेरी बात समझ रहे हो कि अपने आप को नदी के रंग में रंगना अपने आप को नबी के रंग में रंगने के लिए जो हमारी जगह है वो है मदरसे मदर के इसीलिए आप माशाल्लाह पढ़ते हो लिखते हो अपने इस्लाम की सवानें पढ़ते हो वो भी हमारी तरह इंसान थे जैसे हम अपनी माँ बाप की औलाद है वो भी अपने माँ बाप की औलाद थे लेकिन जब अल्लाह ने उनको उसके लिए पसंद किया और उन्होंने उसका हक अदा किया इसीलिए हजूर पाक सल्लल्लाहु फरमाया है आते कुल्ल भी हफ्तिन हफ्ता आते आते कुल्ल भी हफ्तिन हफ्ता हर हक वाले को उसका हक दो हमारे लिए क्या हक है मुताले के वक्त में मुताले को उसका हक दो तकरार के वक्त उसका हक दो दस्तार की हाजिरी में उसका हक दो आजादिया के आधार में उनका हक दो पढ़ने लिखने मदरसे के कानून होते हैं ना कि मदरसे में जब दाखिला लेते हैं तो फार्म भरवाते हैं और उसके अंदर शर्तें लिखी हुई होती है तुम्हें तो अगर मदरसे में रहना है पढ़ना है तो ये नहीं करोगे ये नहीं करोगे ये नहीं करोगे ये नहीं करोगे और ये करोगे ये करोगे ये करोगे दोनों तरह के खाने होते हैं और हमने खुद अपने हाथ से वो खाने भरे हैं भाई नमाजों की पाबंदी करोगे बैठा में हाजिरी दोगे अगर तीन मरतबा गैर हाजिरी मिलेगी तो फिर ये सजा होगी ये कभी पूरे तौर पर नबी के रंग में रंगने की जगह का नाम मदरसा है मदरसा चार दीवारों का नाम नहीं है चार दीवारें तो और बड़ी बड़ी कोठियों की भी होती है बड़े बड़े बंगलों की भी होती है घर मकान की चार दीवारें होती है मदरसे की भी चार दीवारें हैं लेकिन वो कोठियों की बंगलों की हवेलियों की बिल्डिंगों की उनकी चार दीवारों की बात और है और मदरसे की चार दीवारी की बात और है ये इन चार दीवारों में क्या होता है इन चार दीवारों में जो आता है अलीबा से लेके मुफ्ती आजम बनकर निकलने वाला शेख हदीस बनकर निकलने वाला मुबस्सिर बनकर निकलने वाला और अपने अपने घरों के अतबार से तरक्की करने वाला कि जो इन चार दीवारों में आएगा उसका पहले दिन का सबक यह है कि अब दुनिया में जितने रंग रूप है दुनिया में जितनी जेब जीनत है दुनिया वाले जितने अपने रंग रूप पर नाजा है और फखर करते हैं इस चार दीवार में आने वाला के नुमत के रंग में रंग जाएंगे अब कैसे लगेंगे ऐसे रंगेंगे ऐसे लगेंगे कि इनको नबी के रंग के अलावा कोई रंग पसंद ही नहीं आएगा जैसे हजरत यमान रबी अल्लाह रिश्तम की यहां एक मरतबा दावत थी खाना खा रहे थे खाना खाते खाते लुकमा गिर गया तो हम चार दीवारों में क्या पढ़ते हैं हमें क्या पढ़ाया जाता है कि तो तुम्हारे नबी की तालीम ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी की तालीम ये है कि अगर खाते खाते रुकमा दी जाए तो उसको उठाकर साफ कर लो और खा लो क्यों अब ये इल्लत भी बता दी तुम्हें नहीं मालूम कि जो लुकमा तुमने खाया है उसमें बरकत थी या जो गिर गया है उसमें बरकत इसलिए उठा के खा लो ये नबी की तालीम है वहाँ हजरत फैजाबा रजी अल्लाह के हाथ के लुकमा दी गया उसको उठाकर साफ करके हजूर वाले इस पर अमल साहबा की खास बात ये थी कि जो भी उनके पास इल्म होता था उस पर अमल उन्होंने उसको उठाकर खाना चाहा किसी ने टोक दिया तो वहाँ के लोग बहुत बुरा मानते हैं यहाँ के लोग इसको बहुत बुरा मानते हैं आप ऐसा ना करें तो अंदर से बोला दिल बोला ये जबान तो बाद में बोलती है पहले दिल बोलता है जो अंदर में होता है उसकी तर्जुमानी जबान करती है आदमी के जज्बात की आदमी के सोच की आदमी के फिक्र की आदमी के ख्याल की ईमान है ये जबान असल तो अंदर होता है हम्म। फौरन बोल उसके क्या बोले अतरुक सुन्नत हबीबी अतरुक सुन्नत हबीबी लिहाजा इन गजों की वजह से इन अहमकों की वजह से मेरा आका की सुन्नत छोड़ दो अंदर ये बात उतरी हुई थी जो रंग नबी के रंग से नहीं मिलता जो आदत नबी की आदत से नहीं मिलती जो अमल नबी के अमल से नहीं मिलता जो सोच नबी की चार दीवारें इसकी भी चार दीवारें इसकी भी भाई कोई मकान चार दीवारों के बगैर बनता है, तुम्हारे तो मदरसे हमारे मदरसे हमारे मकतब हमारी मस्जिदें उसकी भी चार दीवारें लेकिन असल इनके साहिब को नहीं देखा जाता उन चार दीवारों के अंदर क्या है कि हमारी चार दीवार है इसीलिए एक बात बीच में याद दिला दूं आपको हम जब मदरसे थे ये तो कैसे कहें कि हम पानी में थे मदरसे का जो हिसाब था ना वो पूरा करके जा रहे थे घर तो हमारे हजरत नाजिम आला हजरत मौलाना अबुल हसन अली नगरी रहमत नाम सबने सुना होगा उनकी किताबें बहुत सारी पड़ी होंगी उन्होंने हमको बहुत प्यार के साथ इसमें गाने वाले होंगे ना बहुत सारे अरे गाने हदीस वाले हैं खाली होने वाले भी होंगे तो हमको नसीहत की थी कि बच्चों अभी चार दीवारी से जा रहे हो कोई चार मदद मतलब कि बच्चों अब चार दीवारी से जा रहे हो जिंदगी की मुख्तलिफ ऊंच नीच से तुम्हें वास्ता पड़ेगा खबरदार खबरदार मेरी पहली नसीहत तुमको ये है कि मेरे मुंह में धूल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत अदना नहीं है ये कि जिस अमल का हजूर के सबूत हो गया ये हजूर ने किया है आपका अमल उतना ही ऊंचा है जितनी आपकी जात ऊंची है अजना और आला मुअदा और गैर मुअदा ये सुन्नत हमारा अच्छा बयान करते ना ये गैर मुअदा है ये मुअदा है ये तो मराठी के फर्क बयान करने के लिए बयान किया है वरना जिस जिस अदा का जिस चीज का सबूत सल्लाम के साथ से हो गया वो कोई अदना नहीं है फरमाया साहब पहली नसीहत यह है कि चार दिवाली से जाने के बाद जिंदगी में जहां कहीं रहो जहां कहीं रहो खबरदार खबरदार अदना से अदना सुन्नत का एहतमाम करना और जो आदमी सुन्नतों का एहतमाम करेगा वो बड़ा का एहतमाम नहीं करेगा वो अर्थात को जिंदगी में दाखिल नहीं करेगा उसकी तो जिंदगी में होगा ऐसे ही एक दूसरी नसीहत की थी कि मेरी तुम्हारे लिए दूसरी नसीहत ये है कि जब तुम इस चार दीवार से बाहर जाओगे तो बहुत सारे ख्याल के लोग बहुत सारी फिक्रें बहुत सारे नजरियात और बहुत सारी सोच वाले मिलेंगे अब लोगों को जरूरत होती है सुबह के वक्त में बड़े शहरों में होता है कोई लकड़ी का काम जानता है कोई तांबे का जानता है कोई लोहे का जानता है कोई मुख्तलिफ किस्म के लोग काम होते हैं तो सुबह के वक्त में बड़े शहरों में चीजें होती है जहाँ लोग जमा होते हैं अरबी में उसको नखासा कहते हैं अरबी में नखासा कहते हैं और ये किसी जमाने में नखासा कहलाया जाता था जहाँ गुलाम और बांधी बीतते थे जिसको बांदी की जरूरत होती थी वो वो उस नखासे में आता था जिसको गुलाम की जरूरत होती थी वो वहाँ आता था और गरीब के गुलाम ले जाता था आदमी ले जाता उसको नक्काशा कहते थे फरमाया कि दुनिया में नक्काशे लगेंगे बहुत जिसको अपनी लोहे की बात चलानी होगी जिसको अपनी लकड़ी की बात चलानी होगी जिसको अपनी प्लास्टिक की बात चलानी होगी अपनी फैक्ट्रियों के लिए उनको आदमी चाहिएंगे जिसके जो ख्याल जिसके जो नजरियात जिसकी जो फिक्रें कि उसको उसके लिए आदमी चाहिए अकेले आदमी से तो बात नहीं चलती तो, तो उसके लिए हमला चाहिए उसको फरमाया था कि खबरदार खबरदार फस्तम हा तुमने तो एक ही सुनी है जो तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाए जो तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि फिक्रों पर डाले जो तुम्हें मोहम्मद वाले दर्द पर डाले जो तुम्हें मोहम्मद वाले गम पर डाले उनका तो जरूर साथ देना इसके अलावा जो अपनी अपनी इस मोहम्मद सल्लल्लाहु वाली जिंदगी के अलावा की अगर कोई दावत दे और लालच दे तो देखिए ये कंपनियां होती नहीं जिसकी कंपनी होती है वो शेर तो पता नहीं किस बंगले में है या दुनिया के किस मुल्क में है उसकी कंपनियां चलती है और उसके आदमी जैसे सड़कों पर कपड़ा वा, कपड़े वाले जूते वाले और सामान वाले होते हैं ना और वो उसके भलाई बयान करते हैं ये कपड़ा ऐसा है ये जूता ऐसा है ये चीज ऐसी है और अगर दो लोगे तो एक फ्री में मिलेगा क्या क्या करोगे दो लोग तो क्यों लालच के लिए मुंह में पानी आ जाएगी यार वाह बहुत अच्छा है तो वो बिल्कुल है जो तो ये चीजें एक के भाव में दे वो बिल्कुल है उसको मालूम है कि इसके पीछे और कितनी फैक्ट्रियां खुलेगी उसको मालूम है कि इसके पीछे और कितनी दौलत आएगी तो उसकी बोली बोलने वाले सड़कों पर खड़े हैं दो में एक फ्री दो में एक फ्री दो में एक फ्री अब जाने घर से निकले हैं जो मेरे श्री मेरे लेवेलाल तो तुम इसलिए निकले थे घर से कि थोड़ा सा लालच सामने आया दो तो मेरे स्त्री लेके चले गए घर वाले इंतजार करेंगे आपको थोड़ा बहुत देर हो गई क्या बात हुई इतना वक्त कहाँ जाया किया गेहूं में में देखा होगा आपके यहाँ भी बंगला में भी है वो मदारी आते हैं मदारी मदारी जानते हो जादूगर सांप को नचाते हैं बंदरिया को नचाते हैं नचाते ना बंदर और बंदरिया दो बंदर को सूट पहनाया बंदरिया को साड़ी पहनाई दोनों की शादी की बंदर के चश्मा लगाया उसके हाथ में बस्ती रुमाल दिया और बंदरिया का घूंघट खिंचवाया शादी कराई बिल्कुल सब है खेलिए है ना लेकिन वो क्यों कर रहा है पैसा पैसा है अब उसके लिए एक आदमी जा रहा है कहा किसी बहुत अहम काम से जा रहा है उसके लिए खड़े हो गए तालियां बजा वो कहता तालियां बजाओ तो सब तालियां बजाते वो कहता बैठ जाओ बैठ गए कहना खड़े हो जाओ खड़े हो गए ये तो जादूगर के है नहीं इसको अलिम Obrigado. सुनना है ये के बाहर निकले किसी को बंदर या नशा दे देगा तो वही खड़े हो गए आगे चले तो वो सांप से बड़ा नाग होता है ना नाग नाग होता है उसको गले में डाल के आता है नाग अजहा गले में जबान भी निकालता है लेकिन उसकी जहर की जहरी उसने निकाल दी है ये सारा इतना बड़ा नाग इसकी गर्दन में कैसे लाओ चलाओ उसकी अपनी जरूरत है कोई सांप के रास्ते कोई बंदरिया के रास्ते कोई बंदर के रास्ते और उसको क्या कहते तो रीछ को भालू क्या कहते हो तो, वो रीछ होता है ना बहुत लंबे लंबे बाल भल्लू भल्लू वो भी लेकर चलते हैं कोई भल्लू लेके कोई नाग लेके कोई बंदरिया लेके और कोई वो छोटी छोटी बंदरिया नहीं फिर हाथी लेकर हाथी से सलाम करवाते हैं करवाते ना है हाँ इन नमाजिल हयात दुनिया वजीना इनमा इलमू इलमू أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وسيلة وتفاخر بينكم वतासुरुन औलाद इवल अम्बाद फिर अम्बाद ये दुनिया का खुलासा पांच चीजें हैं खेल तमाशा फैशन फखर गुरूर के नारे औलाद और माल जिसने इन पांच चीजों पर अपनी सारी ताकत लगा दी आखिरत से आंखें बंद कर दी वफिल आखिरत अजाब शदीद पहले दिन शुरू हो जाएगा सकाल और जिसने इन पांच बातों से आंखें बंद करके वो पांच सवालों का जवाब ला तजालो कदमा हमदिन हत्ता युस अलहन खमसिन अन उम्री बीमा अबला अन शबाबी ही बीमा अपना عن मिन من أين اكتسبه وفيما أنفق व علمه ماذا عمل بما علم एक तो वह जिसने अपनी सारी सलाहियत खेल तमाशा फैशन फखर गुरूर माल औलाद की कसरत का हिस्सा दी इनके लिए तो मध्य आजाद शुरू हो जाए इन्होंने इन पांच सवालों के जवाब की तैयारी में वक्त लगाया जैसे हमारा ये सारा मजमा क्यों भाई आप इलेक्शन लड़ने के लिए पढ़ रहे हो वही बड़े बंगलों के लिए पढ़ रहे हो दौलत इकट्ठी करने के लिए पढ़ रहे हो मन सलक तरीकन सफल अल्लाह तरीका जन्नत ये तो जन्नत की तैयारी कर रहे हैं और जन्नत में कौन जाएगा लन तदुल जन्नत हत्ता मीनू अल्लाह से नहीं फरमाते लन क्या है यही शानदार नसी है ला ला तदुल जन्न नहीं कहा लन हर चीज नहीं ना ही और दिखते जब तक ईमान न हो ये इनका तो पहला ही सबक जन्नत का है तो आज मैंने किया कि जो नस्बत अल्लाह ने हमको दी है ये बहुत ऊंची नस्बत है बहुत काबिल कदर है और हमारी जिम्मेदारी ये है कि इन चार दीवारों में रहते हुए सिवाय खुदा रसूल की जन्नत दोजख की आखिरत अजाब सवाब अजल अल्लाह के यहाँ के जो वादे हैं उसके अलावा हम कुछ न सुने सस्ता नहीं मान लो चार दीवारों से निकलकर अब हमें गली गली कूचा कूचा और शहर शहर इतनी इतनी आलम के चार कोनों में लोगों को ये सिखाना है कि देखो असल का कामयाबी चाहते हो तो कामयाबी की बुनियादें ये है पहले जिन बुनियादों पर तुम अपनी जान माल लगा रहे हो उससे करो तोबा कि जितना जिस पर तुम जो कुछ देख रहे हो और अपने को बता रहे हो जिस अल्लाह ने इसको बनाया है वो खुद कहता है कि धोखा है क्या है सब धोखा है और इसके धोखे में कितने तबाह हुए उनके वाकया भी बयान किए सईद ही हदीस है सईद ही मदरसे में इसकी बहुत मशक होती है छोटे छोटे बच्चे होते ना मकतब में तो मकतब में उस्ताद भाई पढ़ो और बच्चों पढ़ो मचाई लगी वो जो रखते हैं जिसके ऊपर किताब रखते हैं कायदा रखते हैं क्या कहते हैं उसको बेंच उसके नीचे खेल रहा है उसके नीचे बच्चा खेल रहा उस्ताद ने देख लिया क्या कह रहा फिर खेलने लगा दूसरी दफे रोका किसी दफे रोका चौथी दफे में हाफिज जी अपनी जगह से खड़े होते हैं और यहाँ के लिए पकड़ते हैं अब कहते हैं बदला मुर्गा क्या बनाते हैं पच्चीस मरतबा उठ बैठ कर और जब वो मुर्गा जब बनाते हैं तो उसके ऊपर कोई चीज लगते हैं देख अगर गिर गए तो चार झंडे मारूंगा तो। ये सब कुछ होता है यानी जिस लड़के के साथ ये होता है उसको उसका दूसरा साथी देख रहा है उसको देख कर लोग किशन देते हैं यार ये इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है ये चिंता था सबक याद नहीं कर रहा था ठाकुर जी बार बार कह रहे थे पढ़ो पढ़ो ये चलता ना भाई अपने पे ऐसा धंधा नहीं करना एक सेशन तो वो हो गई कि इसने पूरे हितर से पढ़ना शुरू किया दूसरा बेवकूफ वो जब अंगूठे उसने पकड़े मुर्गा बना और बैठक कर रहा है तो बेवकूफ जो है ना वो उसको कहता है अब उस्ताद ने इसको देख लिया तो उस्ताद ये करता है कि तू तो कितना अहमक है कितना अहमक है जिस वजह से इसकी पिटाई हो रही है वही वजह तू अपने अंदर पैदा कर रहा है तो उस्ताद का गुस्सा सब समझ लीजिए पूरे में एक भी ऐसा समझदार नहीं अलम तरह कई को आलम का बिहार इलम आजादी इमारत लम युखलक मिसला के बिलास वसमूद अलगीन जाब ताकत रखने वालों ने धोखा खाया टेक्नोलॉजी वालों ने धोखा खाया अब फुलाना फुला उनके शिष्य बयान थे तो ये कह रहे हैं कुरान बयान करके जैसे उस्ताद कहता है कि तुमने देख लिया मैंने इस बच्चे को क्यों मारा इसको क्यों मुर्गा बनाया इसकी छुट्टी क्यों बंद कर दी इसलिए कि जो हमने कहा था वो नहीं किया ओ शॉप के तलबा तुम भी अगर वो करोगे तो हम तुम्हारे साथ भी यही करेंगे ये सबक पढ़कर आपको इंतहार और उसे बाहर जाकर आलम के इंसानों को ये कहना है अगर कौम आज वाली कौम समूद वाली कौम लूट वाली कौम शायब वाली इस्लाम की कौम वाली अगर यह हरकत है फिरौन वाली कानून वाली शद्दाद वाली तुमने की खुदा अपनी उसी दातों सिफात के साथ है वो खुदा तुम्हारे साथ की लिए मदरसे का जमाना जो है ये बहुत कीमती जमाना है दोनों चीजों का अपने आप को नबी के रंग में रंगते हुए अल्लाह का शिक्र है तुम्हारे यहाँ भी होता होगा मदरसों भी जुमला जुमे को छुपा होती जमाते जाते है है ना हाँ हम हाँ, वहां से निकले तो उससे पहले जो जुमेरात थी छह सात पहले देवबंद सहारनपुर नजरतुल और गंगोर शरीफ और जितने अखराब के मदारिस हैं हर मदरसे से दो दो तीन तीन साथी जो तलबा में काम करते हैं वो आए के कारगुजारियां लेकर मदरसे में गश्ते कमरे कमरे की मुलाकातें रोजाना की तालीम रोजाना कमरा और फिर इसमें चूंकि बार बार बार बार उनसे कहते कि देखो मशवरे भी करो मुलाकातें भी करो जुमरात को छुट्टियों के जमात में भी जाओ सालाना शिमला भी जाओ